और जिस दिन अल्लाह उन सबको जमा करेगा तो फरमाएगा ए गुरोह जिन्नात तुमने बहुत से आदमियों को अपना ताबे बना रखा था और इंसानों में से उनके दोस्त कहेंगे ए हमारे रब हमने एक दूसरे से फायदा उठाया और हम अपने उस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर फरमाया था अल्लाह फरमाएगा अब तुम्हारा ठिकाना आग है जिसमें हमेशा रहोगे मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला खूब जानने वाला है